आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhuban 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए now it's time for introduction of guest so I'd like to invite our honourable principal sir kindly to the stage thing to witness a program called the Digital Singing Competition. And today, I shall learn that we have the special definition atheist today. A well known place for you. You know well. Work development uh, officer, RDS, has been the student of Northern India. And today, he is uh, been administrative officer for all settlement of the Lord Almighty. Welcome, NRB. And now on the left, your RBG Nation High. He is the station head of Ready Masan. He is also the head of IT department of Brahma Kumaris. He has been working with this uh, organization, Brahma Kumaris, for last more than 30 years, has dedicated his life for that novel, for the upliftment of the mankind. So world. he has traveled across the nation and he has also visited many countries in relation to the spiritual knowledge. Also, we have with us Dilip Shandebai. He is a singer and he has also been associated with uh, this community. Uh, Brahma Kumaris. for the last 30 years, he has been leading a pure life. And very special person for all of you, RJ Ramesh Bhai. Really looking, Ramesh Bhai, he has been in touch with you for the last two, three months, and many of you know him on Skype. You have talked to him, and on Skype, he has taken your audition and out of those, uh, I think more than 30 students participated in the first uh, open round. So in that, uh, Radio Duty Ramesh Bhai um, is uh, associated with Radio Badhan 90.4 FM is here with us. I welcome you, Ramesh Bhai. And we also have with us Harish Bhai. He has also been associated with the Pure Life and for this dedication towards nation, to our society. Harish Bhai, uh, for the last 36 years, leading a very pure life. We have with us, and you say, is sitting in between among you, all of you, Harish Bhai. And he has been also uh, associated with the programs like uh, uh related to youth development. So I welcome Harish Bhai. Also, I welcome Sister Yogita is from Gujarat, Gujarat State Road Transport Corporation, his booking office over there. And it's our luck that today sister is there with us. So I welcome you, sister, in this program. We also have uh, with us from uh, video office itself, I think, Giham So I welcome you, sir. And all and one and only in the representative from guardians, from parents, parents, that you, are the alone person, who come over here to witness this program. So I wanted to invite many parents, but due to the shortage of place, I couldn't invite. This was the problem, otherwise I would have invited many people. So I welcome First of all, I'd like to invite RJ BK Ramesh Bhai kindly come to the stage and give a brief introduction of digital singing competition Tarang. नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार और जैसे कि आप सभी जानते हैं डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन हमने शुरू किया था एक महीने पहले और उसके बाद धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझते गए और फिर इसमें हम लोग ने आगे बढ़ा धीरे धीरे पहले तो 30 से 26 बच्चे जो हैं ओपन राउंड में स्काइप के थ्रू रिकॉर्डिंग किया था जिसको हमने पूरे रेडियो मधुबन में प्ले किया डेढ़ घंटे का प्रोग्राम था डेढ़ घंटा रेडियो मधुबन में वो प्रोग्राम चला उसके बाद सेकेंड राउंड में हमने 10 बच्चों को सिलेक्ट किया था उनका भी बहुत ही अच्छी तरह से हमने रिकॉर्ड किया और वो भी एक घंटा रेडियो मधुबन में पूरी तरह से लाइव हुआ जिसको प्रिंसिपल सर भी सुन रहे थे उन्होंने बोला मैं सुन रहा हूँ कार्यक्रम को अच्छा लग रहा है तो जब अपने ही बच्चों को हम लोग रेडियो के माध्यम से सुनते हैं तो सोचिए सर को कितना खुशी हुआ होगा है ना और आप अपनी आवाज़ जब रेडियो के माध्यम से सुनते हैं तो आपको भी बहुत खुशी हुआ होगा मैं आशा करता हूँ कि सेकेंड राउंड शायद स्कूल में भी चलाया होगा आपने और आप सभी ने अपनी आवाज़ रेडियो से कैसे सुन पाते हैं समझ पाते हैं वो आप अपनी तरफ से एन्जॉय भी किया होगा तो आज हम लोग फाइनल राउंड पे हैं और इसके पीछे लक्ष्य क्या है हम लोग रेडियो मधुबन ये सब क्यों कर रहा है मेन मोटो है कि उसको जानना जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे पास वॉइसेस है बच्चों में बहुत अच्छा वॉइस है आवाज़ अच्छा है उनका लेकिन पढ़ाई के बोझ से फिर क्या होता है दसवीं बारहवीं हो जाता है फिर कॉलेज आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है उसकी वॉइस की तरफ ध्यान नहीं देता अगर थोड़ा सा आधा घंटा अगर रियाज करता उनकी आवाज़ भी मेंटेन रहती और वो कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में हम लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एक गाना भी आप गा लेते हैं तो बहुत पॉपुलैरिटी आपको मिलता है ना दुनिया में क्या चाहिए दो ही चीज़ें चाहिए एक पैसा चाहिए दूसरा क्या चाहिए पॉपुलैरिटी है ना तो वो पॉपुलैरिटी कैसे आएगा तो इस माध्यम से आएगा आपकी आवाज़ को आपको मेंटेन करना है बस और क्या करना है है ना तो उसके लिए रेडियो मधुबन आपके साथ है और पूरी तरह से हमारा टीम है हमारे यशवंत भाई भी बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि इस तरह से काम हो बच्चों के साथ कनेक्ट होके सोसाइटी के साथ कनेक्ट होके अच्छे अच्छे कलाकारों को अच्छे अच्छे जो बोलने वाले हैं जो गाने वाले हैं उनको रेडियो में लाओ और उनको अपनी आवाज़ को पॉपुलर करो तो वो मकसद लेके आप जब गाना अगर अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं आपके पास तो एक बहुत ही अच्छा एसेट है महेंद्र जी है आपको म्यूजिक सिखाने वाले हैं उसके साथ में आपको रेडियो मधुबन है आपकी आवाज़ को रेडियो पे लोगों तक पहुंचाने के लिए तो आपके लिए बहुत ही सुंदर मंच है जिसके माध्यम से आप पॉपुलर भी हो सकते हैं जो पॉपुलर होगा उसके लिए फिर काम मिलना भी क्या होगा मुश्किल होगा कि आसान होगा तो है ना आप समझ गए ना कि क्या चाहते हैं हम लोग इस तरह के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपका नाम भी हो और आपको काम भी अच्छा मिले आप अपने परिवार के साथ साथ अपना देश का भी नाम रोशन कर सकें और जिस विद्या मंदिर में जिसको Swami Vivekanand government model school बोला जाता है ये अपने आप में एक अनोखा विद्यालय है और उस स्कूल का भी नाम क्या होगा रोशन होगा तो इसी लक्ष्य को लेकर हम आप सभी के साथ हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया thank you so much Thank you, sir. Without taking much time, I'd like to request our chief guest, sir, kindly permit us to start the program. Now, I'd like to invite the first participant of this program, Digital Singing Competition Tarang, Sister Aarti Kumari, student of Class 9A. कदम कदम पे है मिल जानी हो कदम कदम पे है मिल जानी ऐसी प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा धरती सुनहरी अम्मा एक बार फिर से कोई और गाना आप गा सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ तेरी उंगली पकड़ के चला तुझको थाम लू उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लू रखू तुझे पलको तले पूजा करू तेरी तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला next participant of this program digital singing competition Tarang sister Asma Jara, student of class seven a cobrar सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio four 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा हमारे सबसे अच्छे जो वोटर्स हैं वो हमारे ऑडियंस हैं तो जो दो परफॉर्मर थे उनके बाद ये तीसरा परफॉर्मर हमारे बीच में है तो क्या कुछ गाने को सुनने के बाद आपको क्या कमी लगे क्या फील किया आपने दो जन अभिक्षा सुर ताल के साथ एक अच्छा गाना सुना उनको लगे कि आप सुर ताल भी अच्छा आ रहा था would like to invite our chief guest of this program, PDO, Honorable Hemaramji Chaudhary. Please come on the stage and give the blessings to our students. Sammanit Manch, Stabgan, or सभी प्यारे विद्यार्थी जैसा कि रेडी मधुबन द्वारा तरंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है आपके संगीत कला और एक सर्वांगीण विकास के तहत आपकी अभिव्यक्ति की पहचान के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है पूर्व में भी मुझे अवसर मिला आपके बीच में आने का क्योंकि मैं भी आपकी तरह इसी प्रकार के एक विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ आप लोगों के बीच में आके और ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहब का बुलावा मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होती है एक सुखद अनुभूति और एक सर से एक उत्साह प्रेरणा वो या मैं भी ग्रहण कर पा रहा हूँ आप सौभाग्यशाली है कि सर के सानिध्य में आप सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन समष्टि और सरकार इस प्रकार के आयोजन में आप उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ 21 स्टूडेंट्स ने कला उत्सव में डिस्ट्रिक्ट सिरोही को रिप्रेजेंट किया था तो स्टेट लेवल पे इक्कीस बच्चे गए थे आप अपने करकंबों से वो सर्टिफिकेट दें एक और परफॉर्मेंस इससे भी अच्छा आपका पसंदीदा गाना छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तान हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी Now, like to invite the next participant of this program, Digital Singing Competition, Tarang Sister Shyam Kuwar, student of Class 9th B. कदमारा पीर जी आपको दो ऑप्शन है मोटिवेशनल या फिर देशभक्ति गीत एक फिर से परफॉर्म करना है ठीक है साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेले बढ़ाना साथ ही हाथ बढ़ाना Now I'd like to invite the next participant of this program, Digital Singing Competition, Tarun Sister Sania, student of Class 8A. María या आप देशभक्ति में से कोई एक अच्छा परफॉर्म फिर से कीजिए मेरे वतन के लोगों जरा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhuban 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए For your kind information, I would like to share one thing that we have a well-known singer with us. Dilip Sindhbhai is with us and he is going to play a song for you And I hope that will be an inspiration for all the prospective singers. So I would like to invite, please, just give a big hand. रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकदर का सिकंदर वो मुकदर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी मौत महबूबा है जो अपने साथ लेकर जाएगी मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा वो मुकादर का सिकंदर वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकादर का सिकंदर वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है आए दिन पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा वो मुकादर का सिकंदर वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा जाने मन कहलाएगा जाने मन We have no words, sir. Really mind blowing performance it was. And we hope that you will be with us time to time. Thank you. Om Shanti. आप सबको काफी देर हो गया बैठे हुए सबको गर्मी भी लग रही है आप स्कूल में आते हैं किस लिए आते हैं पढ़ने के लिए और जो पढ़ते हैं जो आप सीखते हैं उसको अगर आपके जीवन में नहीं आएगा तो उसका कुछ फायदा है क्योंकि तो जो भी आप पढ़ते हैं जो भी आप सीखते हैं उसको क्या करना है अपने जीवन में उतारना है ऐसा नहीं सिर्फ हमें एग्जाम देने के लिए पढ़ना है कि फटाफट लट्टा मार लिया एग्जाम दे दिया और पास हो गए नहीं ये जो भी आप पढ़ाई पढ़ते हैं आपके जीवन में व्यवहार में आनी है जितना आप इसको अपने व्यवहार में लेके आएंगे उतना ये आपके जीवन को एकदम से बढ़िया निखार के बनाएगा आपको वो पढ़ाई जो तो स्कूलों में आपको शिक्षा दी जाती है पढ़ाई पढ़ाई जाती है उससे आपका जीवन बनता है जिस प्रकार से कुमार होता है अपने घड़े को जब घड़ा बनाता है तो कितनी मट्टी को कूटता है उसको भिगो के रखता है फिर बनाता है तो उस पर चाक पे घुमा के उसकी पिटाई भी करता है फ्राई कर करके उसको जब बनाता है फिर उसको आग में पकाता है उसके बाद जब वो बन के तैयार होता है तब वो इतना सुंदर होता है और उससे ठंडा पानी मिलता है या जो भी चीज बनाता है वो कितना काम आती है वैसे ही आप जो भी पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में उतारे प्रैक्टिकल उसको जीवन में व्यवहार में लाए तभी आप वैल्यूएबल बनेंगे छोटा सा आपका टेस्ट लेता हूँ कि आप जो भी सुनते हैं या जो भी अभी भी स्कूल में या अभी भी उसको ध्यान से सुनते हैं या नहीं सब तैयार है टेस्ट देने के लिए yes, बैठे बैठे देखिए खड़े हो जाइए सर को देख रहे हैं yes, पीछे वाले दिखाई दे रहे हैं सब yes, देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा है हाँ? जैसा मैं बोलूं आपको वैसा ही करना है हैं? आपको देखना भी है और सुनना भी है और आपको करना वो है जो मैं बताता हूँ अब अपना हाथ आगे लाइए अब आपको देखना आपका कितना कंसंट्रेशन है अपना हाथ धीरे धीरे अपने गाल पर रख लीजिए ईमानदारी से कितने लोगों ने सर पे रखा कितनों ने गाल पे रखा जिन्होंने गाल पे रखा वो हाथ खड़ा की कोई झूठ बोले या सच बोले वो उसके अपने जीवन के ऊपर है इसमें दो बात है जो हम देखते हैं वो लाइट है या नहीं जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं उसमें तालमेल है या नहीं तो हमें वही करना है जो कि जो सुन रहे हैं जो बताया जा रहा है एक्शन कुछ भी हो तो मैंने कहा था धीरे धीरे अपने हाथ उठा के अपने गाल पर रखे हाथ लेके मेरे सर पर रखा जिन्होंने कंसंट्रेशन नहीं था उन्होंने सर पर रख लिया जिन्होंने देख रहे हैं सुन नहीं रहे जिन्होंने उसको ध्यान से सुना कि बोल तो गाल पे नहीं है लेकिन ये सर पे रख रहे हैं तो सर बोलने वाला काम करना चाहिए है तो इसलिए कोई भी कार्य करें अटेंशन से करें अटेंशन से जितना करेंगे उतना वो हमारे जीवन में आएगा और हम हम वैल्यूएबल रहेंगे वैल्यूएबल बनेंगे उस पर छोटी सी एक कहानी आपको बताता हूँ एक बार एक राजा के दरबार में एक मूर्तिकार आया और वो तीन मूर्तियां लेके आया तीनों मूर्तियां एक दिखने में एक जैसी बहुत सुंदर थी लेकिन उसमें कमी क्या थी उस कमी के आधार पर उनके जो कीमत थी वो निर्धारित थी एक की कीमत सौ रुपए दूसरी की कीमत हजार रुपए तीसरी कीमत दस हजार रुपए आप कोई बता सकता है क्यों उनकी कीमत में डिफरेंस था देखने में सब एक जैसी थी कोई बता सकता है एक के कान में रस्सी डालते हैं दूसरे कान से निकल जाती है एक के कान में रस्सी डालते हैं तो मुंह से निकल जाती है और एक के कान में डालते हैं तो वो पेट में ग्रहण हो जाती है हम सुनते हैं स्कूल में या जो भी अच्छी बातें सुनते हैं अगर हमने सुन करके एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी हमारे जीवन में तो आई नहीं तो हमारी क्या वैल्यू हो गई सौ रुपए यानी कि वो कुछ भी वैल्यू नहीं हमारी अगर हमने उसको सुनकर रट्टा मार दिया सुना दिया या एग्जाम में लिख दिया हमारे प्रैक्टिकल जीवन में नहीं तो थोड़ी सी वैल्यू होगी लेकिन अगर आपने उसको सुन करके अपने जीवन में धारण किया तो आप वैल्यूबल बन जाएंगे हमारे जितने भी महापुरुष हुए जितने भी हमारे जिनकी पूजा करते देवी देवता हुए उनकी वैल्यू क्यों क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा और औरों को दिया इसलिए आप जो भी सुनते हैं या जो भी एग्ज़ाम देते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में लाइए ताकि लोगों को लगे हाँ स्कूल में जाकर इसका व्यवहार अच्छा है इसका जीवन बदल गया तो ऐसा जीवन बनाइए तभी आपका स्कूल में आना सार्थक है एग्जाम दे के पास हो जाए उसका कोई मतलब नहीं आज देखिए पढ़े लिखे कितने उल्टे सीधे काम करते हैं आप देखिए अखबारों में टीवी में देखते हैं जो भी क्राइम होते हैं करने वाले कौन सब पढ़े लिखे क्यों क्योंकि उनके अपने जीवन में नहीं है जो अपने जीवन में उसको लाता है वो हमेशा देश हित में समाज हित में या विश्व के हित में कार्य करता है तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब भी जो सुनते हैं देखते हैं पढ़ते हैं उसको अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए और बुरी बातों को देखते हुए भी ना देखे गांधी जी के तीन संदर्भ थे ना बुरा मत देखो बुरा मत बोलो बुरा मत तो ब्रह्मा कुमारी में दो बंदर और दिए हैं कौन से पांच बंदर हैं सबसे पहले बुरा मत सोचो बुरा मत करो दो बंदर और में तो जो हम देखते हैं वही बोलते हैं वही सुनते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करते हैं इसलिए यहाँ बताया गया है कि आपको कुछ भी सोचना भी बुरा नहीं और करना भी बुरा नहीं तो ऐसा आप बनेंगे तो वैल्यूबल बन जाएंगे Deepika Rawal and Sania Kuwar both got like good marks so they will have to again come on the stage and give their performance first Deepika Rawal जिनको ज़्यादा ऑडियंस चाहेगी वो नंबर ले लेगा उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ तुझे पर को तले पूजा करूँ तेरी तेरे सिवा तू ही बता क्या है जिंदगी मेरी तू नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं तेरी उंगली पकड़ के चली ममता के आंचल में पड़ी माँ सानिया कुंवर बड़ा दुखता है ओ, ओ बड़ा दुखता है आ बड़ा दुखता है ना काटा मुझे बड़ा दुखता है मैंने दिया तुमको फल फूल छाया तू तो समझ ही न पाया था मैं हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर invite PK Yashwant bhai kindly come to the stage and give us your blessings. पहली बार आना हुआ बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों में इतनी डिसिप्लिन और इतनी शांति और बहुत अच्छे संस्कार हमारे इजिप्शियन भाई जी ने दिए आप लोगों को और आप स्कूल में भी बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मेरा एक विचार था रेडियो मधुबन की तरफ से आप सबको एक सजेशन है कि ये जो सिंगिंग कंपटीशन है ये हम इसको टैलेंट हंट बोलते हैं मना आपके बीच में जो टैलेंट है जो स्किल है उसको हम बाहर निकालते हैं और उसको फिर प्लेटफॉर्म देके उसको हम पब्लिक में लेके आते हैं तो ये एक मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया जो होता है पत्रकारिता बोलो रेडियो जॉकी बोलो टीवी में एंकरिंग बोलो तो ये सब चीजों के लिए ये कंपटीशन हम लोग रखते हैं तो ये जैसे रेडियो मधुबन छः साल से चल रहा है और उसी का हमने दूसरे साल से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कार्यक्रम का और अभी ये डिजिटल कंपटीशन इसलिए रखा है क्योंकि पूरा इंडिया से हम लोग टैलेंट्स को ढूंढते हैं तो ढूंढने के लिए फिर हमको आपके पास आना पड़े या आपको हमारे पास आना पड़ेगा माउंट आबू तो इसमें आना जाना खर्चा वगैरह होता है तो इसीलिए डिजिटली हम लोग इसको आप लोगों को देते हैं तो आप लोग इसमें प्रैक्टिस करते रहो अच्छी तरह से तो आपको भी जब आप बड़े हो जाएंगे स्कूल कॉलेज जब पूरा करेंगे तो आपको एक नया करियर मिलेगा और एक नया अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छा आप लोग जॉब मिलेगा तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और अलग अलग स्किल्स में आप डेवलप हो जाओ तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप अच्छी तरह से आगे बढ़ो और दित्यन भाई जी है और आप जितने भी यहाँ के टीचर स्टाफ है तो उन सबको धन्यवाद और इतना अच्छा मेंटेन किया है ये सचमुच मॉडल स्कूल है तो सरकार की तरफ से भी अवार्ड भी मिला है और भी ये इंटरनेशनल भी अवार्ड मिले इसकी शुभकामनाएं करते हैं I would like to request BK Yeswant Bhai and Honorable Principal Sir, please distribute these certificates. Budiya Kumari, Mr. Ram. Ali Abbas, Basan, Sanju Kumari, Budiya Kumari, Bhavna Kumari, Harshvardhan, Dimple Kumari, Joshna Kumari. Second round के विजेता. Ayal Kumar, Vishnu class seven Kalpesh Kumar Deepika Rawal सम्मानी मंच सभी गुरुजन बंधु एवं प्यारे बच्चों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस कार्य को प्रधानाचार्य जी के द्वारा मुझे मार्ग बताया गया उसके मैं शुरू किया मुझे सफलता महसूस हो रही है और जैसे बच्चे परफॉर्म कर हैं मुझे खुशी हो रही है बस जैसे मैं ही गा रहा हूँ ऐसा मुझे मैसेज हो रहा है जैसे मैं ही गा रहा हूँ यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम का कि यहाँ पर बधाई हुए सभी मेहमानों का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हुआ ये पूरे रेडियो एफ के द्वारा प्रसारित किया गया पूरे ऑल इंडिया में तो मैंने भी मेरे जो संबंधी थे उनको बताया कि जो मैंने स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पर बच्चों को मैंने गाने सिखाए हैं और आप भी सुनिएगा तो वो भी ऐसे रहे क्या बात कर रेडियो में आपके जो बताया कि कुछ आए हैं उसमें गाने के लिए मैंने बोला हाँ, ये सही बात है तो उन्होंने मेरा भी सम्मान बढ़ गया जो मेरे समाज के लोग थे उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ गया क्योंकि रैलियों पे आना तो बहुत बड़ी बात होती है बहुत जैक देने पड़ते जैक लगाने पड़ते हैं लेकिन मैं मेरे अपने आप को लकी समझता हूँ और अभी आपके सामने यहाँ पर मेरा सम्मान किया गया उसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ अब जैसे की तो दो सुना देता हूँ वो दो ऐसी है कि आप सभी को ध्यान से सुनना है और वो जितनी काम आने वाली है अगर ध्यान समझ गए तो आपका जीवन सफल चला जाएगा जन्म तेरो बातों में भी जन्म तेरो बातों में बीत गयो तूने कब के का जब मत बोला बड़ी कंटर चो लोग बड़े लाल चुप दे कब पूरी तरह से जोश में रहेगा और मैं नाम सुना देता हूँ चलिए सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरे साथ रहेंगे सानिया कुंवर आगे बढ़ते हैं दूसरे पोजीशन पे हैं श्याम कुंवर नंबर वन पे कौन जा सकता है चलिए मैं नाम सुना देता हूँ आप दो पूरे जोर से अपनी तरफ से खुशियां बटोरते हुए खुशियां बांटना Aarti Kumari Swami Vivekananda government model school का छह लोग जो आपने लास्ट आज परफॉर्मेंस सुना ये पॉलिश वॉइस है सिर्फ इसको मेंटेन करना नमस्कार श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही तरंग कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो